तो तीसरे दिन इक्कीस योजन फिर बाईस योजन फिर तेईस योजन ऐसे सब मिला करके सौ योजन हुआ तो पांच दिन में जो वो पूरा पुल बन करके तैयार हुआ तो पांच दिन तक पुल बनता रहा तो ये भी उन्होंने कहा कि इतनी इतना परिश्रम उनको करना पड़ा तभी सब सेना पार गई समुद्र तो सुखा देते सब लोग वैसे आराम से निकल जाते तब सीता जी ने उनसे कहा कि देखो समुद्र को सुखाने के लिए तो भगवान राम ने धनुष उठाई था और तो खा भी सकते थे लेकिन जब सही समुद्र ही भगवान की शरण में आ गया तो शरणागत को इस प्रकार का सुखा देना अच्छा नहीं है इसलिए भगवान ने धन बाण नहीं चलाया धन तो क्या भगवान भी सुखा सकते थे भगवान राम भी सुखा देते दूसरी बात ये कि सुखाने के बाद में जब भी सुखाते और समुद्र को वैसे मान लो कि समुद्र के ऊपर दया कर दी और भगवान ने सुखाया नहीं तो फिर पार करने के और भी तरीके थे जैसे भगवान राम को समुद्र से पार जाना था तो पार चले जाते हनुमान जी तो वैसे ही पार समुद्र से एक तरफ छलांग लगा के दूसरी तरफ जा सकते हैं उनकी पीठ पर बैठ के पार चले जाते ऐसा भी कर सकते थे लेकिन तब ऐसा था कि भगवान राम अगर उनकी पीठ में चढ़ कर जाते तो भगवान का पुरुषार्थ न रहता भगवान का प्रसार भी तो दिखाई देना चाहिए उनका ऐश्वर्य भी तो दिखाई देना चाहिए तो ये भी हो सकता है कि भगवान स्वयं छलांग लगा करके चले जाते पार तो तीसरी आपत्ति ये थी कि अगर स्वयं भगवान हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली थे उनको पार जाने में कौन मुश्किल थी और सबको ले जा सकते थे इसी प्रकार से तो रावण कहता कि भाई इसके माने ये मनुष्य नहीं है ये तो भगवान ही है इसलिए वो रावण को तो मारना था मनुष्य के द्वारा मरण था उसका तो भगवान को मनुष्य बनकर के भी रहना था हम्म, कोई भी सरकार ने खानी नहीं थी रावण को इसलिए भी उन्होंने छलांग नहीं लगाई छलांग लगा के जा सकते थे और फिर ये कहा कि तीसरी बात है कि तो एक ये भी हो सकता था विकल्प कि भगवान राम न तो ऐसे करते जैसे मनुष्य लोग समुद्र में तैरते हैं उस लोग इंग्लिश चैनल है उसमें तैर करके इधर से उधर तक पार चले जाते हैं ऐसे करके यहाँ पर भी लोग तैरते हैं तैर करके उस पार निकल जाते हैं बानर भी तैर जाते हैं भगवान राम भी तैर जाते हैं तो तैर जाने पर उसके क्या थी वो तैर कर जाते बाहर लेकिन तो नहीं तैर कर नहीं निकली इसलिए नहीं निकले कि यह मुनि का निकला हुआ जो है शरीर का मन है इसलिए भगवान राम को अच्छा नहीं लगा कि समुद्र में कूदे तो इसलिए जो है उसमें डुबकी लगावे और फिर तैर करके जाए और बांदरों से कहें तुम तैर करके चलो इसलिए उसमें तैरे नहीं और अगर ये तुमने कहा कि इनसे मुनि से ये कहते कि आकर के मुनि तुम तो समुद्र को पी जाते हो आकर के इसको तुम पी जाओ हाँ, तो फिर हम सब लोग निकल जाए बाहर तो, तो ये कौन सी बड़ी अच्छी बात थी कि हम मुनि से कहते कि तुम मुनि अपना मुंह पी जाओ क्योंकि तो कोई दर्द की बात है किसी को बहुत दर्द दिया जाए तो उसे कहा जाता तुम अपना मुंह पियो अपना मल खाओ ये तो बड़ा भयंकर बहुत जब दर्द किसी को दिया जाता है तो ऐसे मुनि से भगवान कहते हैं कि तुम अपने उस को पी जाओ समुद्र को ये भी कोई अच्छी बात न होती तो हमने कोई विकल्प चूंकि था नहीं इसीलिए उन्होंने भगवान राम ने ये पुल बनवाया और पार गए तो लोकामुद्रा जो अंतिम युक्त सुनी तो उनको वो शर्मिंदा होने लज्जित हुए ये धान हमारे नहीं गया ये उनको जो है वो अगस्त से भगवान ने समुद्र सुखाने के लिए क्यों नहीं कहा तो ये कहते हैं कि देखो इसमें शंकर जी कहते हैं कि महिमा आ गया न जरा दिखाई बरनी कहते ये जो पुल बन गया इसमें समुद्र की भी कोई महिमा नहीं यद्यपि है महिमा समुद्र की भी कि जब पुल बना तो पत्थर डाले जाए समुद्र के ऊपर तो उनको पत्थरों को इधर उधर बह जाना चाहिए समुद्र की लोहरे आती तरंगे आती हैं तो पत्थर पत्थर चले गए और रुके रहे तो समुद्र की ही महिमा है उसने उनको रोकर आपने डोरे डोरे नहीं सदा रहा सफल तो बना नहीं तो अगर समुद्र अपने जो तो इधर क्या डुलता इधर के पत्थर इधर इधर के पत्थर इधर जाते घास के ऊपर जो है संबंध के पुल कैसे बनता था इसलिए समुद्र की भी महिमा है लेकिन समुद्र की महिमा कुछ अपनी नहीं कर रही दूसरी महिमा पत्थरों की मिला पत्थरों की महिमा आई पत्थर तैरते रहे तब तो पुल बना अगर पत्थर न तैरते तो पुल कैसे बन जाता पत्थरों की महिमा लेकिन कहते हैं नहीं वो पत्थरों की महिमा भी पत्थरों की नहीं है वही भी महिमा भगवान राम की है तीसरी महिमा जो है वो नलियों की है जिन्होंने पुल बनाया बांध करके इस प्रकार से किया या जिनके छूने से पत्थर तैरने लगे तो नन्नी की महिमा कहो तो नन्नी की भी महिमा इसमें नहीं है सबकी महिमा जितनी भी है चाहे समुद्र का भी उसमें योगदान हो पत्थरों का भी योगदान हो और उसमें योगदान भले ही <clears throat> इनका नजीर का भी हो लेकिन सब में योगदान का मूल सूत्र अधिष्ठान पर परमात्मा ही भगवान राम है उन्हीं की शक्ति से ये पुल बना भगवान की प्रकार से बना पुल नहीं बन सकता <clears throat> दूसरे प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि देखें तो ये कह सकते हैं कि साधनाएं तो विभिन्न लोग करते हैं नाम जब करते हैं पूजन करते हैं ज्ञान आता है तो ज्ञान आता है सभी बातें आती हैं लेकिन इसमें महिमा गुरु की महिमा है कि शास्त्र की महिमा है कि व्यक्ति एक अपने पुरुषार्थ की महिमा है तो कहते हैं उसमें महिमा जो है असल में महिमा शक्ति है बिना इनके शक्ति गुरु के बिना भी काम नहीं चलता शास्त्र के बिना भी काम नहीं चलता व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ के बिना भी काम नहीं चलता लेकिन महिमा सबके मूल में विद्यमान परमात्मा की बिना परमात्मा के न गुरु की कृपा है न की कृपा है न अपने अंदर ही कोई उत्साह आता जब तक भगवान कृपा नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करने में उत्साह पूर्वक लगता नहीं इसलिए सर्वत्र महिमा भगवान कहते श्री रघुवीर प्रताप के सिंधु तरे पाषाण ये पत्थर जो है वो भगवान की कृपा से ये समुद्र के ऊपर पत्थर चढ़ गए और पुल बन गया तो जो इस बात को जो जानते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि भगवान की शरण में जाए उन्हीं की आराधना पूजन करें और उन्हीं की कृपा के प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करें कि भगवान कृपा करें जिससे कि हमारा उद्धार हो हमारे सम्मान प्राप्त हो <clears throat> हमारे परमार्थ की प्राप्ति हो उस प्रकार से करो तो भगवान कृपा करेंगे <clears throat> बनावा कृपा से मन भावा चली सेन कटबरण न जाई गर गई मरकट भट समुदाय सेतु बंद बिज चली रघुराई कृपाल सिंधु बहुताई देखन कव प्रभु करुणा गंदा जगत भये सब जल चर ब्रह्मा होता है जितने बानर बड़े बड़े भारी भारी बानर सब उसके ऊपर चढ़ जाए और इतने चढ़ जाए कि इधर पे भी चढ़े चढ़े कार तक का जितना पुलिस सब लग जाए लेकिन टूटे नहीं इतना बना तो कहते हैं कि बांध सीट हुआ तो सुदृढ़ बनावा और देश कृपान जी के मन भावा भगवान ने कहा था हाँ, खूब मजबूत बन गया है भगवान ने देखा बहुत तो अच्छा लगा प्रजा ने कहा किया कि चलिए इसे हमें पशु मरण न जाई तो भगवान की आज्ञा हुई कहा कि भैया चलो समुद्र से पार अपना भगवान को भेजना शुरू कर दिया भगवान ने तो मानव लोग चले समुद्र को उसके पुल के ऊपर बड़ी विशाल सेना सबके सब समुद्र पार कर रही उसी पुल से जर गए ही मरकट फटे समुदाय सब बानर लोग जो वो गर्जना करते हुए हुआ करते हुए और उस पुल से पार करने लगे बन गए दीदी चढ़ी रघुराई तो भगवान ने क्या किया कि जहाँ समुद्र बना था आसन बना गया था उसी के पास अभी एक ऊंचे स्थान पर भगवान खड़े हुए जहाँ से दूर तक दिखाई दे समुद्र दिखाई दे ऐसे स्थान पर ऊंचे स्थान पर खड़े हो और वहां से देखने लगे चितव कृपाल सिंह बहुताई और भगवान ने समुद्र की तरफ देखा बहुताई में समुद्र में बहुत दूर तक भगवान ने देखा हाँ, ऐसे खड़े हो गए तो फिर देखने कहे प्रभु करुणा कंदा तो समुद्र में तमाम जीव जंतु जितने भी थे समुद्र के वे सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए समुद्र में इकट्ठे होने लगे इधर की तरफ से आ गए उनकी दूसरी तरफ से आ गए आ करके <clears throat> जितने उसमें सब तो समुद्र में कौन कौन है मकर नत्र नाना जगद्याला ये सब है मटर मगर घड़ियाल है वो नक्र नक्र मैंने नाका जो कहलाता नाक कहलाता है वो घड़ियाल कभी वो और नाना तरह तरह के माने है मगर ये मछलियाँ छोटी बड़ी मछलियाँ वो कहते हैं दस और प्याला मैंने सर्प इस तरह की मछलियाँ सर्पाकार मछलियाँ ये सर्पाई सत योजन तन परम तन परम विशाला और ये सब बहुत बड़े बड़े ये सब मगर इत्यादि समुद्र के जितने भी बड़े सरोवर होते हैं पानी के स्थान होते हैं उतने बड़े बड़े जंतु भी हो जाते हैं जैसे किसी गांव के तालाब में कहीं कहीं देखो मछलियाँ देखोगे तो छोटी छोटी मछलियाँ होंगी कछुए भी होंगे तो इतने बड़े बड़े तालाब के गाँव के तालाबों के कछुए इतने बड़े होते हैं और जब गंगा जी के कछुए देखो जब जी के कछुए देखो तो इतने बड़े कछुए दिखाई देंगे हाँ? समुद्र के कछुए देखो तो और भारी भारी कछुए दिखाई तो जितने बार सरोवर पानी का जितना बड़ा स्थान होता है ये जंतु भी उतने बड़े बड़े होते हैं नदियों की मछलियों को देखेंगे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ कितनी बड़ी दिखाई देंगी और समुद्र की मछलियाँ देखो तो फिर बड़ी बड़ी बात भारी भारी मछलियाँ कितनी कितनी भारी होंगी सत योजन कंकरम विशाला सौ सौ योजन के बड़े बड़े बड़े शरीर उनके हैं और फिर ऐसे वो एक दिन नहीं गए खाएंगी और उनसे भी बड़ी मछलियाँ और जंतु जो सौ योजन की मछलियों को भी खा जाए कितने बड़े जैसे रेल मछली बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो ये सब समुद्र का बिल्कुल होती है और ये कन के डर से उपजरानी और बड़े से भी और बड़ी ऐसी होती है जो उनके डर से भी वो डरती है तो एक तो वैसी बड़ी बड़ी उनसे बड़ी जो उनको खा जाए और वो भी डरती है दूसरे उनसे भी बड़ी मैंने बहुत बड़ी बड़ी इस प्रकार की मछलियाँ जो जन समुद्र की है वे सब प्रकट भय सब जल चर बंदा ये सब जल समुद्र के जितने जंतु है वे सब समुद्र के तट के ऊपर वहां पर आकर के पानी से बाहर निकले और भगवान श्री राम जी के दर्शन करने लगे और प्रभु भी लोग कहीं तरह न तारे हम्म, इनको सब ये भगवान श्री राम जी को देखते हैं और उनको हटाओ एक दूसरे को टक्कर मारते हटाते हैं तो हटाए हटते नहीं भगवान को सब देखते रहते हैं देखन कहूँ प्रभु करुणा कल्ला ये भगवान करुणा निधान भगवान जो है वो उनको देखने आए करुणा कंदा कंदा के मैंने क्या है कंद कंद के मैंने मेघ हम्म। भगवान जो है जैसे मेघ ऊपर दिखाई देता है ऊंचे पे ऐसे भगवान भी ऊपर से खड़े हुए हैं श्याम वर्ण उनका शरीर है मेघ के समान और वो भगवान अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ वर्षा करते हैं जल की ऐसे भगवान अपनी कृपा से सबके ऊपर डाले हुए हैं और सब भगवान के उस दृष्टि को कृपाल दृष्टि के दर्शन कर रहे हैं और भगवान की कृपा से का जन्म हो के पात्र बन करके उसको प्राप्त कर रहे हैं पान कर रहे हैं कृपा का तो प्रभु हिंद लोग कहीं कर रहे नारे तो वे सब जो है भगवान श्री राम जी को सभी दर्शन कर रहे हैं और आदाय नहीं हटते और मन हर से सर्व भय सुखारे सबके मन जो है वो बहुत ही प्रसन्न है भगवान के दर्शन करके और कहते हैं तिल के ओट न देखिए बारी अब वो इतने जंतु आ गए और सब पानी के ऊपर उतरा रहे हैं कि अब पानी वहां दिखाई नहीं देता माना वो इनके इनके जल जंतुओं के कारण ही मानो पुल जैसा प्रेम बन गया और दोनों तरफ पुल के दोनों तरफ एक तो पत्थर का पुल और दूसरी तरफ जल जंतुओं का उधर और जल जंतुओं का उधर दोनों तरफ उनके ऊपर से उतरा करके आ गए और आर पार यहाँ समाप्त कर सके इनके उठ देखी अबारी पानी में दिखाई देता मदन भय हरि रूप निहारी और वे सब भगवान श्री राम जी को देख करके मग्न हो रहे हैं और जहाँ है वही है और सबकी दृष्टि भगवान राम के ऊपर है चला तटक प्रभु आये सुपाई ये तो पहले बता चुके थे चलिए इसे कछु वर्णन न जाये तो बीच वर्णन करने लगे जन जंतुओं का तो अब कहते ये सबकी सब सेना मानव सेना अब चली जा रही है कैसे चली जा रही है को कहीं तक कभी कभी बिल्कुल आई कभी मानव तो बहुत है कब सेना बहुत भारी सेना है ये सब के सब पार जा रहे हैं तो कैसे पार जा रहे हैं अब देखो तीन मार्ग बन गए समुद्र पार जाने के लिए एक तो सेतु बंद भाई भीड़ रहती पहले तो पुल के ऊपर बहुत भीड़ हो गई अब वो सब जितने बानर है पुल के ऊपर समा नहीं रहे पुल चलता चला जा रहा है जबकि तो उसके ऊपर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन सभी बानर जल्दी में बाहर जल्दी जाना चाहते हैं तो पुल के ऊपर जगह नहीं मिलती जाने के लिए तब क्या किया नव नवपंथ उड़ाई तो कुछ कपिल इस प्रकार से थे जिनमें की उड़ने की सामर्थ्य थी छलांग लगा करके आकाश मार्ग से जाने की थी वो कहा लोगों को चलने दो पुल पर हम ऐसी छलांग लगाते तो छलांग आकाश मार्ग से चल रही तो तीसरे प्रकार क्या थे अपर जल चरण ऊपर जल चरों के ऊपर तीसरे हुए थे जो उन्होंने कुल छोड़ करके उनको दिखाई दिया कि इधर मगर और मछलियां इधर मगर मछलियां उनके पीठों के ऊपर पैर धरते हुए एक से दूसरे दूसरे के तीसरे ऊपर कूदते हुए वे अपने आगे बढ़ते चले गए अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार जाए इस प्रकार कूदते हुए पार निकल गए अब देखो तीन प्रकार के ये बताए तो अब ये कोई निष्प्रयोजन नहीं है तुलसीदास जी के संतों के ऋषियों की यही महिमा है सुनाएंगे तो इतिहास सुनाएंगे तो इतिहास लेकिन इतिहास लिखने वाले ऐसा नहीं है जैसे कि इतिहासकार होते हैं बस इतिहास इतिहास लिख दिया कुछ मतलब नहीं ये लोग इतिहास लिखते हैं तुलसीदास हो चाहे बाल्मीबाजी हो चाहे व्यास आदमी है ये जब इतिहास लिखते हैं तो सब आध्यात्मिक जैसे इतिहास लिखते हैं ये भी ध्यान रखते हैं कि इसमें आध्यात्मिकता क्या हुई कि मैंने संसार सागर के पार जाने के तीन रास्ते हैं एक तो पुल है दूसरा आकाश मार्ग है और तीसरा जो है कल्चर है इन तीन मार्गों से तीन जा रहे हैं <clears throat> अब इन तीन मार्गों में से वही तीन मार्ग एक कर्मकांड का मार्ग दूसरा जो है उपासना का मार्ग तीसरा ज्ञान का मार्ग ज्ञान का मार्ग बिल्कुल अलग दिखाई देता है उसकी क्या विशेषता है आकाश मार्ग है तो ज्ञान का मार्ग हाँ? <clears throat> आकाश उसे चले जा रहे हैं मैंने ज्ञान मार्ग से चले जा रहे हैं ज्ञान क्या है आकाश तोड़ का जैसा है तो किसी के साथ जितना संसार है उसको सबको छलांग लगा दे अरे सब ये कुछ नहीं <clears throat> जगत वगत संसार अनुसार कुछ नहीं ये सब जीव जंतु सब क्या जितने सब है बस एकदम से शरीर से मन बुद्धि प्राणा से ऊपर उठते हुए अपने आत्मा पर पहुंच गए आत्मा से परमात्मा पहुंच गए तो ये एक प्रकार की छलांग है और ये आकाश मार्ग है परमात्मा पर पहुंच गए आत्मा से परमात्मा में पहुंच गए <clears throat> ये संसार तो बड़ा दुष्ट था कैसे पार हो गए पूरे का के पीछे छूट गया उसका कोई मतलब लेकिन संसार का अगर ऊपर पुल के, के समान जो है फिर वो हो जिस मजबूत पुल है वो पुल जो है वो उपासना का मार्ग है उपासना कर चलते हुए व्यक्ति के भगवान ने देखा कि ये बांध से बहुत सुदृढ़ बना हुआ और अधिकांश लोग जो है वो इसी मार्ग पर जाते हैं जो सेतु है वो शुद्ध सेतु है उपासना का मार्ग है भगवान की उपासना करते हुए अधिकांश व्यक्ति इतने संसार में है वो तो उपासना के मार्ग से आगे प्रयास करते हैं और उनका रास्ता पक्का रास्ता है मैंने उनको गिरने का डर नहीं वे मजबूत पुल के ऊपर अपने खड़े चले जा रहे हैं तो कहीं सब संसार सागर में गिरेंगे डूबेंगे नहीं लेकिन आकाश से उड़ने वाले उड़ते हैं तो जिनमें उड़ने के सामने तोड़ भी जाते हैं और बीच बीच में गिर भी पड़ते हैं कोई कोई विकरांग लगा पाते पूरे जा पाते हैं तो ज्ञान मार्गी लोगों को जन्मे का रहता है जैसे का क्रैश हो गया क्रैश हम्म, हो गया तो जरा नीचे खड़ा तो, तो इसी करके यह ज्ञान के मार्ग से चलने वाले कहीं कहीं उनका जो है पूर्व वासनाएं उनको जोड़ दिए चक्कर लगा दिया उनको तो भूल गए सब ज्ञान फिर विषय में पड़ गए फिर संसार में पड़ गए ये सब इस प्रकार का हो सकता है क्रैश हो गया लेकिन ये जो है ये पुल ऐसा नहीं है उसके ऊपर तो मजबूती का सर्कल हो जाएगा और तीसरा मार्ग जो है वो कर्म का मार्ग है जिसका हम कर्मयोग के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति करते हैं फिर आगे ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है तो उनका मार्ग जो है वो हो इसे ये मछलियों छियों के ऊपर और मगरों के ऊपर पैर करके जाना जैसा कर्म का मार्ग है वो खतरनाक मार्ग है उसमें कर्म व्यक्ति को बंधन में डालने वाला भी हो सकता है निष्काम भाव से कर्म कर रहा है बीच बीच में सकामता आ जाती है सकामता आ गई तो मानो फिसल गया है फिर पानी समुद्र में चले गए इस प्रकार की दशा हो सकती है तो ये तीन प्रकार के मार्ग हैं उन तीनों प्रकार से ये बारह लोग सब समुद्र से पार जा रहे हैं तो ये सदा ही जब हम रामचरित मानस का अध्ययन करें तो पूरा अपना वेदांत दर्शन जितना सब है उसी को याद रखें और देखें इसमें ये क्यों इस प्रकार की बात करें अगर कहते हैं तीन प्रकार के जा रहे ये ना समझो कि हाँ वो तीन प्रकार के मौका था ऐसा ही अवसर था तो तीन प्रकार जा रहे उसमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक संकेत भी है वो भी देखते रहे शंकर जी के पूजा करने का तीन प्रकार का विधान तुलसीदास जी बता रहे हैं तो तीन प्रकार का विधान है तो उसमें भी कोई कारण है उत्तम बता रहे हैं कोई निरर्थक नहीं बता रहे हैं तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए तो ऐसे ध्यान देंगे तो ये सब धीरे धीरे करके रामचंद्र मानस का जो आध्यात्मिक राज है वो प्रकट होता जाएगा बस इतने रखते हैं आगे चलो सूचना है वो कि आज जो है वो आठ मई है और गुरुदेव का जन्म दिवस जैसे जो कुछ यहाँ पर आयोजन करने का विचार बनाया गया है तो गुरुदेव की जयंती मनाने के लिए 10 बजे से 11 बजे तक किसी हॉल में सब लोग इकट्ठा होंगे 10 बजे विदा बुलाए अपने आप यहाँ सब आ जाएंगे उसके पहले 10 बजे के पहले यहाँ व्यवस्था कर ली जाएगी उसके पूजन के लिए तो सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे अभी आठ बजा है दो घंटे बाद नाश्ता वास्ता के बाद दस से ग्यारह तक पुष्प वगैरह ला सकते हैं अपने भगवान उनको शंकर को चढ़ाने के लिए और तो पूजन का जिसको जिस प्रकार की श्रद्धा हो वो अपने घर में विचार करने आपस में पूजन होना चाहिए सुंदर ढंग से नान्यास्तिहा रघुपते हृदयमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भाग्यं प्रयच्छ रघुपुं गवनिर्भराम्ये रामादिदोषरहितं कुरु श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम